ભાઈ ને નવસો ના હોય તો કોનું વ્યાસ આપણે ધ્યાન નહીં વ્યાસ છે વ્યાસ છે એ વ્યાસ તો નવસો ના હોય નવસો તરીકે માણી જમાતો भाई हमारे आओ भाई आओ आओ भाई हमारे कितवार जमात के अहबाब और मस्जिद और जमात के जिम्मेदार इनसे गुजारिश है कि जिन जिन जगह की जमात है वो अमीर के साथ साथियों को लेकर जल्दी भेज दे वहाँ के जिम्मेदार जो है इसकी थोड़ी फिक्र करे हमारे इतिहास से जमाते न हों तो ऐसे बड़े बड़े पद में ऐसी संस्थाएं ऐसी मीटिंगें ऐसे पता नहीं क्या क्या होता है दुनिया में तो उसमें हमारे में क्या फर्क है जैसे अभी मोहन साहब कह रहे थे कि ना मुसलमान और नमाज न हो तो क्या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 कैसी हो खुली हुई आयत है और हर आदमी के सामने अपनी डायरी होती है सुबह उठने से लेकर शाम तक क्या किया पूरे हफ्ते क्या किया महीने क्या किया साल किया और जितनी जिंदगी गुजरी उसमें क्या किया सारी रिपोर्ट आदमी के अपने पास जैसे लड़के परीक्षा देते हैं इम्तिहान देते हैं तो जो सवाल पूछे थे उसके जवाब लिखने थे आकर के किताब से मिलाता है कि तो उसका रिजल्ट उसके सामने ही होता है कितने नंबर मिलेंगे पास होऊंगा नहीं होऊंगा क्योंकि तो जो लिखा है वो और किताब में जो है वो ऐसे दोस्तों हमारी सबकी पूरी जिंदगी की सुबह से शाम तक की और अब तक जिसकी जितनी जिंदगी गुजरी है हर एक को मालूम है करने के क्या किए हैं न करने के क्या किए हैं जमा उदार का खाता होता है ये पुरानी कहती है कहता है या आयत ये कहती है कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे में सबसे बड़ा नुकसान में और सबसे बड़ा घाटे में और टोटे में कौन है अल्लाह कह रहे हैं अपने नबी से कहलवा रहे हैं الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسنون صنعا وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی اپنی ہر طاقت جانی مالی خاندانی مختلف حیثیتوں کی عقل سمجھ بوجھ सारी सिरत दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया इसी पर लगा दी रोज दुनिया में तरक्की करने के अतबार से और फिर उस सारी लगा करके समझते क्या है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं क्या अच्छा कर रहे हैं पहले तो भाई साइकिल भी नहीं थी पैदल जाते थे फिर एक पुरानी साइकिल फिर दो पैसे कमाए तो टू व्हीलर फिर पैसे कमाए तो फोर व्हीलर फिर फोर व्हीलर में करोड़ों की कि हम बहुत आगे जा रहे हैं हम बहुत तरक्की कर रहे हैं पहले किराए के मकान में थे अब अपना जाति मकान हो गया जाति मकान भी दो फ्लोर का था दो मंजिला था अब पांच मंजिला हो गया हम बहुत अच्छे जा रहे हैं दस बीघा जमीन की पचास हो गई बहुत अच्छे जा रहे मौलाना मोहम्मद इलिया साहब नब्बर एक बार बहुत ताकीद से फरमाते थे ये हमारी जो सारी मेहनत है फरमाते थे नफे के मुकाबले में नुकसान से बचना ये ज्यादा अहम है और मिसाल दी एक लड़के को बाप ने दो लाख रुपए दिए ले बेटा धंधा कर अपने पैर पर खड़ा हो माँ बाप कब तक हम तो मरेंगे तुम्हें रहना है तुम्हें करना है दो लाख रुपये दिए धंधा करो करता रहा आता रहा जाता रहा आता रहा जाता रहा साल भर के बाद अब बाप के अंदर में तो ये था कि दो के बीस बना के लाएगा धंधा करेगा रोज तरक्की करेगा अच्छा खासा अपने पैरों पर खड़ा होगा अपने बीवी बच्चे सारी चीज़ों को अपनी ज़रूरतों को साल भर के बाद अब्बा ने पूछा हाँ बेटा तुमने कुछ बताया नहीं क्या कमाया अब बेटा सर नीचा करके कहता अब्बा ऐसा है कि अभी तीन पार्टियों को देना है तीन पार्टियों को देना है और देने के लिए हाथ में पैसा नहीं है अब्बा ने पूछा क्या बेटा दो लाख क्या अब्बा दो लाख की तो बात ही मत करो वो तो गई पूंजी थी नहीं अपनी मुड़ी वो तो गई अभी तो अपने देवादार हैं अब्बा सर पकड़ लेगा बेटा तुम क्या हुए चाहे उस दो लाख पर बीस हजार नफा होता वो थोड़ा था लेकिन कम से कम दो लाख तो अपनी अपनी मूड़ी अपनी पूंजी तो बची रहती दो दिन से मैं जब से आया हूं तो बहुत कम आना होता है और साथियों को पहचानना इलाके की नौयात ये वो सब लेकिन दो दिन से जो आए हैं और सुन रहे हैं और देख रहे हैं तो पूंजी तो जिले के हाथ से गई ईमान के भी लाले पड़ रहे हैं नमाजें मस्जिदें घरों की जिंदगी में हया पर्दा अखलाक लोगों के साथ के मामला सच्चाई अमानतदारी यानी ये असल हमारी पूंजी थी इसलिए कि हर आदमी की पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं जो जो जरूरतें हैं खाना पीना पहनना उड़ना ये अल्लाह की रखी हुई है लेकिन तमाम जरूरतों में सबसे पहली और सबसे बड़ी और हरेक की जो भी इंसान है मर्द हो या और पहली और सबसे बड़ी जरूरत जो है वो हिदायत उसको मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता इतना कह दू कि जैसे चेहरे की ये दो आंखें इससे चीजों का नफा और नुकसान नजर आता है आदमी रास्ता चलता है यहाँ कांटे हैं कीचड़ है खड्डा है और बहुत गहरा है ये आंखों से दिखता है नहीं ये इधर की सड़क साफ है रास्ता साफ है और कोई ऊंचा नीचा नहीं है तो जैसे आंखों के से रास्ते का नफा नुकसान पैसे का नफा पैसा न होने का नुकसान जमीन का नफा जमीन की पैदावार न होने का नुकसान धंधे में आमदनी का नफा और धंधे में खोर ये नुकसान ये इन आंखों से नजर आता है अल्लाह ने हर एक को दिल दे रखा है और कुरान यू कहता है कि सुनो ये आंखों का अंधापन अंधापन नहीं है वला दिन तामल अबसार तामल फलूबुल्लती इस सुदूर असल अंधापन दिलों का अंधापन है वो दिल जो सीनों में है जब दिल अंधे हो जाते हैं तो जैसे अंधे आदमी को चीजों का नफा नुकसान नहीं दिखता अंधे को क्या नजर आवे ऐसे जब दिल अंधे हो जाते हैं तो अच्छे अमलों का नफा गुनाहों का नुकसान अल्लाह के दीन का नफा दीन की मेहनत का नफा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियों का नफा अपनी जान चुराना अपने आप को बचाना और बहाने बनाकर बच जाना इसका नुकसान ये नजर नहीं आता है दिल अंधे हो जाते अल्लाह माफ फरमाए मुझे भी आपको भी हमारी उम्मत को इस वक्त जिले का जो हाल है क्या आवाम और क्या खवास क्या छोटे और क्या बड़े और क्या पुराने और क्या नए क्या मर्द क्या औरतें जैसे कोई वबाई बीमारी आती है ना वबाई बीमारी जैसे प्लेग फैला साइरस क्या साइरस कहते हैं वायरस वायरस वायरस तो अच्छा खासा आदमी भी घर से दांत बजाता आता है क्या हुआ सर्दी लगी डॉक्टर कहता वायरस है इस वक्त जिले में आमाल का वायरस है अल्लाह करे मेरे तुम्हारे दिलों में उतर जाए और इसका इलाज सोचो इसलिए कि सबसे पहली जरूरत है हिदायत और हिदायत के जिससे अमल का नफा नुकसान नजर आए इज्तम की तारीखें भी तय होती हैं बहुत शौक से इज्तम मांगते हैं मेहनत होती है शामियाने लगाते हैं खिदमत करते हैं बहुत खिदमत की साथ अल्लाह अकबर अभी आए थे मिलने सारे इंदौर वाले बहुत सारे मेरे मुसाफिर भाई तुम में से जमात में कौन जा रहा है एक भी नहीं इसका नाम इज्तिमा याद रखना इज्तिमा तो दो मेहनत दो मेहनतों का नाम है इज्तिमा से पहले जमातों की नकल हरकत इज्तिमा के बाद फिर जमातों की नकल हरकत इसका नाम तो इज्तिमा वरना तो इसका नाम है इंसानों की भीड़ हमारा काम भीड़ जमा कर लेना नहीं है लेकिन भीड़ तो जमा होते थे आपने देखा होगा एक आदमी बहुत बड़ा ऑफिसर है उसके साथ उसका नौकर भी है ब्रिज केस भी है बहुत शानदार ग्रुप पहना है और जा रहा है रास्ते में मदारी खेल दिखा रहा है सांप नचा रहा है रीछ नचा रहा है बंदर नचा रहा है जा रहे हैं लोग खड़े हैं तो ये जो ऑफिसर है वो कहते क्या है इन्हें वो खेल रहे तो उसका नौकर कहता साहब अब छा अच्छा, जा देख ले वो सांप खड़े हो जाते हैं और ऐसे दर्जे के अफसर हैं कि उनसे लोगों को अपॉइंट मिलने पड़ता है मिलने के लिए अब ये खड़े हैं देख रहे हैं वो बंदरिया नचाने वाला कहता हाथ उठाओ अफसर साहब ने भी उठाए रख दो बैठ जाओ ताली बजाओ ये सब काम करते हैं थोड़ी देर के बाद लोगों की जेबों में जो पैसे थे वो मदारी ने लिए और ये सब चले गए अल्लाह का वास्ता अल्लाह का वास्ता अल्लाह का वास्ता इन इज्तम को खेल न बनाओ रसम न बनाओ ये तो मोहम्मद वाली मेहनत है हिदायत का नूर अंदर आ रहे खेती वाले में नौकरी वाले में जवान में औरत में बूढ़े में लखपति करोड़पति में इंग्लैंड वाले में अफ्रीका वाले में कनाडा वाले में जो जहां है ये मेहनत तो उसकी है और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र है जैसे एक वक्त में तो आंख इतनी तेज होती है कि रमजान का चांद देखते हैं ना बहुत बारीक चार पांच हाँ मैं जो मैं जो तब जो हाँ બહુ પાત્ર બે જણોની વચ્ચે છે કઈ છે અહીંયા બતાવ્યો જો કે હા ભાઈ બીજો ત્રીજો ચોથો પંદર માણસને બતાવ્યો એ વખતે આ માણસની આંખ બહુ હારી હતી જોતો તો એની જ આંખ જોતો જોતો કમજોર થઈ હવે એને લોકો એવું કહે કે જો આમ જો ચાંદ નીકળો તો ભાઈ મને તો ન દેખાતો યાર કે ભાઈ તારી આંખો કમજોર થઈ ગઈ આપણા જિલ્લાને લોકોને આ કામથી જિંદગીઓ બનતી નજર આવતી હતી ને જો અહીંથી લોક કઈ કઈ ગયું ઇંગ્લેન્ડ ગયું અફ્રિકા ગયું તઈ જઈને નમાઝો તેમના છોકરા અલમા તેમના છોકરા શેખુલ હદીસ બહુ બારીક ચોન છે હા બહુ બારીક ચોન છે અહીંથી તે કઈ સુધીનું દેખાતું હતું આપણા ઘરને જોતો ઘરના ઘરના ધાબા પર ચડેલા ત્યાંથી બી હવે નથી દેખાતું આપણા ઘરોમાં કશું નથી મારા દોસ્તો મારા ભાઈઓ મારા આજીજો એક વખતે ફરી સોચો ફરી સોચો આ આંખ આટલી બધી કમજોર કમ થઈ ગઈ કે ભાઈ ડોક્ટર પાસે જો તમે કે ઘરાના ડોક્ટર પાસે જશો તો તે આંખનો ઈલાજ નહીં કરે કોણના એક ડોક્ટર આંખના માટે તો આંખનો ઈલાજ કરવો પડશે તે ડોક્ટર પાસે જવું अल्लाह पाक ने हमें ये इतनी ऊंची मेहनत दी है उलमा है मदरसे हैं दावत और तबलीग की मेहनत दी और कि ऐसा चांद बारीक चांद नजर आता था लोगों को जिंदगियां बंदी नजर आती थी अब हम ही ऐसे हो गए कि पैसे में सब कुछ नजर आने लगा दुनिया ही में सब कुछ नजर आने लगा और फिर उसको अपनी तरक्की समझने लगे तो कुरान का फैसला है मेरा किसी का नहीं अल्लाह कहते हैं कि इनसे बड़े नुकसान वाले कोई नहीं हमारा आपका जिला भाटे अल्लाह के तो હમણાંથી વધારે कोई नुकसान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 کیا بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر खास करके काहे से आसान किया इनके बंगले बनवा दिए इनके घरों पर दौलतों के ढेर लगवा दिए इनके यहाँ दुनिया भर से फर्नीचर जमा करा दिया लकद अल्लाह ने बहुत बड़ा आसान किया ईमान वालों पर कि उन्हीं में से एक बर नबी बरहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हजूर की रियासत को अल्लाह ने अपना एहसान कहा फिर हजूर को भेजा तो हजूर तो खुद ही काफी आप जहां बैठे वहां रहमतें ही रहमतें आप बैठे तो आप रहमतें आप चले तो आप मुस्कुराए तो आप खाए तो लाखों सलाम जहां आप बैठे लेकिन आपको सिर्फ नहीं भेजा और खाली हाथ नहीं भेजा दावत सबसे पहले दावत सीखना सिखाना दीन सिखाना कुरान और दिलों की सफाई कीना कपट हसद दुनिया की मोहब्बत तेरी मेरी इस सब से सफाई का सामान दावत तालीम और तस्किया जिसको कहते हैं तबलीग की मेहनत मदरसे और खानकाहें ये तीनों दौलतें लेकर भेजी आपको भेजा इसीलिए हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी उम्मत को बच्चे बच्चे को अपना वारिस बनाया ये उम्मत वारिस है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु ने फरमाया कि हमारी नबियों और पैगम्बरों की जमात पीछे वालों को पैसों का वारिस नहीं बनाते हम तो जो अल्लाह के यहाँ से दीन और दीन की मेहनत लेकर आते हैं उसका वारिस बनाकर जाते हैं फिर कुरान ने दोनों तरह के वारिसों के वाक्यात भी बयान किए माँ बाप के मरने के बाद तो अलादी वारिस होती है ना कि ऐसा वारिस भी कि माँ बाप के तो क्या लखपति और करोड़पति कितनी जमीने कितने मकान क्या खा लेकिन औलाद शराब की आदत जुआ खेलने वाली अयाशी और बदमाशी करने वाली के माँ बाप की जितनी थी वो सब गई और सड़क पर भीख मांगने खड़े होते वो वारिस भी होते हैं और उन वारिसों का वाक्य भी बयान किया वरिसुल किताब वैसुल किताब कि जिनको विराश में अल्लाह की किताब के माँ बाप तो किराए के मकान में थे लेकिन बच्चे बहुत समझदार थे उन्होंने जो मेहनत की कोशिश की तो पक्का मकान अपना मकान फिर कारोबार मेरे दोस्तों इस वक्त में उम्मत जो वारिश है हजूर पाठ सल्लाम की हमारा हाल हम तो सड़क पर खड़े और फिर भी हजूर अकम सल्लाम ने दुनिया से जाते जाते पर्दा फरमाते फरमाते फिर उम्मत से कहा देखो सड़क पे छोड़ के नहीं जा रहा हूं किसी की गोद में बिठा के नहीं जा रहा हूं कि वो तुमको खिलावे तो खाना और जो खिलावे वो खाना वो तुमको जिलावे तो जीना और वो तुम्हें मारे तो मर जाना खबरदार तुम्हारे एक हाथ में कुरान दे के जा रहा हूं और ये कुरान इसका हर हुक्म हकीकत के साथ जिंदा हो और उस पर अल्लाह के इनाम तुम्हारी दुनिया भी बने आखिरत भी बने उसकी मेहनत वो दोनों एक हाथ में पुरान एक हाथ में मेहनत देके जा रहा हूं फिर गारंटी ये जो कंपनियां बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है तो गारंटी कार्ड होता है ना अब कुछ मशीनें बहुत लंबी बहुत महंगी होती है तो पूरी बुकलेट होती है हर हर पार्ट फिर किसको किसके साथ मिलाना किसका क्या नफा कौन से कैसी क्या होगा ये सर से पैर तक सारे पार्ट इस आंख का क्या नफा कभी अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और अल्लाह के खौफ से इतना आंसू मैं कौन बंदा अल्लाह उम्मती रहमत हाँ आज तक मैंने क्या किया करना क्या था पैसा कहाँ लगाता वक्त कहाँ लगाता मैं किसके काम आता मैंने क्या खौफ पैदा हुआ मक्खी के सर के बराबर का आंसू निकला साजिक मसदूक मोहम्मद रसुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस आंसू के अल्लाह के इतनी कीमत है कि वो गुनाहों से जो बड़ी बड़ी जहन्नम में दहका रखी है वो सारी बुझ जाए एक एक पार्ट की कीमत बताई ये जबान का बोल यहां बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा आसमानों की बुलंदियों में नूरानी सुतून को हिला देता है अल्लाह क्या क्या थम कैसे कम हो अभी उसकी जा मैंने उसको माफ कर दिया एक एक पार्ट कितना कहती है अब हर आदमी सोचे मैं आज के जमानों के क्या बोला मैंने क्या देखा है जितना अल्लाह को नाराज करने का जो सामान हो सकता है मेरा पैसा मेरा वक्त मेरी समझ बूझ वो सारी उस पर लगा दी और फिर समझ ये रहा हूं कि मैं बहुत तो तरक्की पर जा रहा हूं इस पर पूरे जिले का यह हाल है ये तो काली कमली वाले रहमत सल्लल्लाहु वसल्लम का सदका है कि आपके सदक़े में पहले तो आपने तोबा की और आपने माफी मांगी जब आप तहजद में थे और यासिन शरीफ की ये आयत आपकी जबान पर आई ओ गुनहगारों नेकारों से एक तरफ हो जाओ हजूर अकरम सल्लासम को तो पहले ही दिन से उम्मत का फिक्र था आपको तो वहां भी इस वक्त नमाज में या अल्लाह क्यामत का भय बरचक मैदान होगा सारे नबियों की उम्मतें होंगी सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी मेरी उम्मत के गुनहगार सबके बीच में एक तरफ रोते रोते रोते रोते फजर हो गई इंडियों पे वरम आ गया मेरे दोस्तों हम में से हर एक सोचे हजूर अकम सल्लाम अरफात के मैदान में उम्मत को नहीं भूले घर में नहीं भूले नमाज के बाद नहीं भूले हशर में नहीं भूलेंगे हम हुजूर को शादियों में याद करते हैं हमारी शादियां जब पीर को और जुमेरात को कारगुजारी जाती है हजूर की कब्र में तो हम तो समझते हैं बेटी रुखसत हुई समझते हैं हम समझते हैं शादी हुई दुल्हन आई हजूर की सुन्नतों के जनाजे घर से रुखसत हो रहे हैं खुदा हमारे दिल की आंखें खोल दे खुदा हमारे दिलों की आंखें खोल दे इसीलिए दोस्तों ये सारी मेहनत है और जो कुछ बनो सबसे पहले हरेक को दीनदार बनना है और दीनदार बनने के लिए अल्लाह को पहचानना है वो बड़ी कुदरत वाला है उसने तो कलेजा चबाने वाली को रजी अल्लाह तला बना दिया जब उनके अंदर तलब पैदा हुई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह का कान नाक काट कर गले में हार पहनने वाले को रजी अल्लाह बना दिया अल्लाह तो बहुत करीब है लेकिन कोई आगे तो सही अल्लाह की तरफ कोई अल्लाह की या अपनी तलब तो निकाले हाय दुनिया हाय दुनिया हाय दुनिया कम से कम कम से कम अल्लाह से मांगना और अल्लाह की मानना ऐसी हो जाए जैसे छोटा बच्चा जो बात हो अम्मी अम्मी अम्मी हम दिन में कितनी मरतबा अल्लाह कहते हैं अपनी जरूरतों के लिए फिर अम्मी जो कहती कि हाँ बेटा बिस्किट दूंगी तू पहले कपड़े बदल ले अच्छा अम्मा बेटा जी अम्मा हाथ मुंह धो ले अच्छा अम्मा अम्मा का कहा मानता है अम्मी कहा अम्मी ने सारा है कम से कम अल्लाह को हम ए अल्लाह ए अल्लाह फिर अल्लाह इतना देते हैं सहाबा कौन थे कैसे थे अल्लाह का नाम नहीं जानते थे आखिरत नहीं जानते थे अल्लाह के रसूल को नहीं मानते थे ये अबू सुफियान रजी अल्लाह तला जो बदल में आए थे और चर्चा थे जब मक्का मुकरमा फता हुआ तब सुफियान आए अल्लाह एक है सब कुछ वो करने वाला है ये तो समझ में आता है लेकिन अभी आपकी पैगंबरी और आप रसूल हैं ये मेरे हलक नीचे नहीं उतरता अबू सुफियान ने कहा था तो गालिबन हजरत उमर उनको लेकर आए थे अल्लाह के रसूल ये बड़े लोग जो है ना जो कौम की नाक कहलाते हैं और ऐसे हैं और ऐसे ये लोग थोड़ा इकराम थोड़ी इज्जत चाहते हैं आप उनका इकराम कीजिए आपने इकराम किया भाई जो अबू अबू सुफियान को भी हमने अमन दे दिया और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो उसको भी अमन अबू सुफियान के अच्छा मेरी इतनी इज्जत है मेरा ऐसा ही इकरार है हजूर को अल्लाह का रसूल बदक मार लिया अबू सुफियान की बीवी हिंदा उससे लोगों ने कहा कि आज तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत पर हैं जो उनसे अमन मांगता है अमन देते हैं हिंदा ने क्या क्या जानते हैं औरत जात उनसे सारी उम्र जिनसे लड़ाई रही है और उनकी बेटियों को यहाँ तलाक दी गई है और उनसे ये किया गया है उनसे अमन मांगूंगी बिल्कुल नहीं तीन दिन तक रही लेकिन बाहर जब आई तीन दिन का माहौल देखा कि अल्लाह अकबर सब में फसीता करने के लिए आपके सामने आपकी दो बेटियों को तलाक आपके मुंह पर थूकना आपके पत्र की स्कीमें मक्के के हर घर में आपके साथ इनके अखलाक ऐसे हैं ये तो बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन रात अंधेरी थी सन्नाटा था तो पहले तो ये ख्याल हुआ इसीलिए कहते किसी के साथ बदगुमानी मत करो बदगुमानी करनी है तो अपने साथ हरेक के साथ अच्छा गुमान कहने लगी कि हो मोहम्मद सल्लल्लाहु ने तो ऐसा बदला उतारा है कि कोई रोने वाला बच्चा भी नहीं छोड़ा मैं देखू कहा गए सब बहुत डरती डरती दीवारों से लगकर कावे तक पहुंची हरम शरीफ पहुंची तो देखा तो वहां तो सहाबा किराम रिजवान तबाह कर रहे हैं मुलतजम से चिमटे हुए हैं मकाम इब्राहिम पर है और सारो कतार रो रहे हैं अभी भी इनका दिल मान नहीं रहा है ठीक है दुआएं मांग रहे हैं तबाह कर रहे हैं हमारे लिए तो बदवाही कर रहे होंगे इनको तबाह कर दे मैं जरा सुनू तो डरती की अंधेरा था वहां वो लाइटें नहीं थी जो आज है हरम में चुपके से अंधेरे में सहाबा के टोले में घुस गई मुंतजम पर जहां दुआएं हो रही थी तो सुना है इनको तो हमने रेत पर कसीटा है इनके तो बच्चों को हमने नेजों पर उछाला है इनके कपड़े उतारे हैं शायद अभी तालीम में ढाई साल तक इनको खाना पानी ये तो हमारे लिए रो रहे हैं अल्लाह इनको जहन्नम से बचा दे अल्लाह ये तो हमारे हैं तेरे बंदे हैं अल्लाह ये तो हजरत हिंदा रजी अल्लाह कहने लगी इनसे ज्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता जो अमल लेने को तैयार नहीं थी वो आई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ब्याज होने के लिए पर्दा था हजूर ने जब ब्याज शुरू कराई तो फरमाया कहो अल्लाह एक है उसका कोई शरीक नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं ये कहती रही फिर जब हजूर ने फरमाया कहो चोरी नहीं करेंगी सीना नहीं करेंगी तो पर्दे के पीछे से बोल उठी शरीफ औरतें कोई चोरी क्या करती है शरीफ औरतें कोई जिना करती है हजूर अकम सुगम पहचान गए अरे हिंदा है क्या हिंदा बोल रही है जी क्या हाल था बैठ हुई और फिर अल्लाह ने कितना काम लिया मेरे दोस्त हमारा आज का ये सारा मजमा मैंने मैं फिर कहता हूं मैं फिर कहता हूं बहुत बारीक चांद नजर आता था हरेक को अपनी जिंदगी अपनी आल औलाद अपने पोते सब बनते नजर आते थे इस दावत और तबलीग की मेहनत में कोई किसी परेशानी को रोता था बेख्तियार कह चिल्ले में चला जा लुट जाते अब पुराने पुराने जिम्मेदार नए ये सब कुछ करेंगे चिल्ले से जान चुराते हैं जमात में जाने से अपने को बचाते हैं जिस आंख से इतना बारीक नजर आ रहा था चांद अब पच्चीस आदमी दिखा रहे हैं ये पूरे गुजरात का सफर हुआ काठियावाड़ से लेके यहां तक का सबने जमाते निकाल निकाल के बताया वो चांद है वो चांद है भरू जिले वाले देखने को तैयार नहीं साफ बात कह रहा हूं अल्लाह मुझे भी माफ फरमाए तुम्हें भी माफ फरमाए दोस्तों आंखें खोलो आंखें खोलो तुम्हारी कमाइयों में तुम्हारी जमीनों में आल औलाद में वो है ना कहते हैं क्या कहते हैं कैरियर बनाओ और फ्यूचर बनाओ कि कोई ऐसी डिग्री लो कि फिर तुम्हारे पोते पर पोते खाते रहे ऐसी जमीनें बनाओ कि तुम्हारे नवासे और नवासों के नवासे इसको कह रहे मोहम्मद रसोल्ला ने उम्मत को जब रुख्सत किया था आरफात के मैदान में आपने खुतबा किया ला पबल अरबी अला आदमी ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم सुनो किसी अरब को गैर अरब पर और किसी गैर अरब को अरब पर किसी तरह की कोई कोई खसूसियत नहीं जिसमें जितना अल्लाह का खौफ जिसमें जितना अल्लाह का डर इन अक्रमकुम अल्लाह तुम्हारा फ्यूचर उतना जितना तुम्हारे अल्लाह का डर जितना तुम्हारे अल्लाह का डर इतना तुम्हारा फ्यूचर मेरे दोस्तों हमें तो अल्लाह के नबी ये देंगे अब अल्लाह ही को भूल गए सबको सब याद अल्लाह के हुक्म कैसे टूट रहे हैं अल्लाह का जी सुन्नतों का मजाक शादियों में सबको खुश किया जाता है एक मरतबा मौलाना मोहम्मद लिया साहब रहमत दिल्ली में कहीं शादी थी इसमें शरीक हुए तो हजरत ने फरमाया कि भाई शादी जिसके यहाँ होती है तो उस जमाने में तो ये देश के जो खला वगैरह होते हैं ना वो उस जमाने में नहीं थे ये तो ये तो ये क्या नाम ऊपर वाला अंग्रेजी खला कमोट जिसको कहते हैं ये नहीं थे वो चूल्हे होते थे और उसमें डब्बे होते थे उसी में पखान वाली पानी भी और वो मेला उठाने वाली काम करने वाली आती थी उसको ले जाती थी और बीच में बात याद आई तो वो भी सुना दो ये काम यू नहीं पहुंचा मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमत आलही बंगले वाली मस्जिद में हजरत हैं हजरत जी हैं हयात सहाबा पढ़ने के बाद किसी को रजाई किसी को चादर किसी को तकिया सब पूरे मजमे को सुलाकर वहां भी वही डब्बे थे कहानों के मेहमानों का सारा डब्बे अपने सर पर उठा दिया अंधेरे में कोई देखे ना और बाहर वहां करीब में म्यूनसिपलिटी की गाड़ी खड़ी रहती थी खुद हजरत भाई मेरे मेहमान हैं मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा एक तरफ बयान भी फरमा रहे हैं भूखे भी हैं अब भूखे कैसे घर में आ रहे तो अम्मा जी के पास नहीं अब्बा के पास नहीं एक दिन एक लकड़ी का संदूक था उसमें आटा दाल चावल होती थी मेहमानों के उस दिन कोई दाना नहीं तो दो पार्टियों के बीच में थोड़ी दराड़ होती है ना थोड़ी तो उसमें से थोड़ा थोड़ा कुरेदा कितना आटा निकला आग जलाई धुआं उठा मौलाना इलिया साहब रहमतुल्ला बैठे हुए थे उन्होंने देखा भागे हुआ है यूसुफ आटा कहां जलाया मौलाना कांप गए अब्बा जी चोरी नहीं की है किसी से भीख नहीं मांगी मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने ये दराजों में से दा है बस वो वक्त था कि मौलाना यूसुफ साहब रहमत मौलाना इलिया साहब रहमत ने फरमाया यूसुफ आज के बाद तेरी चार दीवारी में कभी फाका नहीं आएगा सन सैतालीस में उन्नीस सौ सैतालीस में दिल्ली के लखपति और करोड़पति भागे हुए हुमायूं के मकबरे में थे और खाने को लुकमा मिलता और यहाँ मेहमान खाते मेरे दोस्तों काम तो कुर्बानियों का है हम यू चाहें कि मजमा हो जाए तकरीरें हो जाए और इज्तिमा हो जाए हरेक को अपनी जात से करना है हरेक हजूर का उम्मती है हजूर अक्रम सलम अपनी वाली मेहनत निराश में दे गए हैं उस मेहनत के जरिए कुरान के हुक्मों को जिंदगी में लाना है उस पर अल्लाह के जो वादे हैं अल्लाह ने वादे पहले भी पूरे किए हैं साहबा की सीरत पढ़ो अल्लाह हमारे साथ भी पूरे करेंगे हम करें कुछ न और चाहे कि वो हो जाए अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता आज मैं भी रात दी कि वो या तो बारीक चांद नजर आता था और अब सारे दिखा रहे हैं फिर भी नजर नहीं आ रहा आंखें कैसी हो गई दिल कैसे हो गए अल्लाह से माफी मांगे तोबा करें और अपना वक्त लगाना शुरू करें अभी भी मेरा जी चाहता है अभी भी मेरा जी चाहता है मेरी इतनी बात सुनने के बाद अगर किसी माल के लाले में मागाओं का दूध पिए हुए हो किसी के दिल में आता हो सिर्फ खड़ा हो जाए अपनी जगह दो चार मिनट के बाद इंशाल्लाह दुआ कर देते हैं किसी के दिल में आया हो कि हाँ भाई बहुत गफलत है अल्लाह माफ करे है कोई जो कहे कि इंशाला चार महीना चिल्ला जाऊंगा खड़ा हो जाए जब तक इस काम को अपनी हर परेशानी का हल नहीं मानोगे उस वक्त तक काम नहीं कर सकोगे वो बारिश चांद नजर नहीं आएगा दिल अंधे हो रहे हैं है कोई आ जाओ आ जाओ आ जाओ अल्लाह तेरी जान में माल में हाल में ईमान में दुनिया में आखिरत में बहुत बरकत है नसीब फरमा ये पांचों दुआ उसके लिए जो खड़े हो खड़े हो जाओ पांचों दुआएं नस्लों तक के लिए खड़े होते रहो आते रहो हमारे पास यहाँ जो जहां हो पूरा जिला है जिन्हें बारीक से बारीक चांद नजर आता था जिन्हें अपने हर मसले का हल अल्लाह के रास्ते में जाने में नजर आता था अब वो बहाने बनाकर और दुनिया में जहां चाहे ले जाओ जमात में जाने के लिए जान चुराती अल्लाह हमें माफ करे अल्लाह हमें माफ आ जाओ दोस्तों आ जाओ बताओ भाई बोलो हजरत की बात सुनकर किसी के दिल में बात आई होगी और बात तो ऐसी नहीं बात तो सबके दिल में उतर गई मेरा तो मेरा तो इनके साथ गुमान ये है जिस सुकून से बैठे और सुनी है और है दिलों में है वो शैतान नहीं उठने देता सारा मजमा नियत करो हाँ। इंशाला पहली फुर्सत में आ जाओ आ जा जाओ माशाल्लाह अल्लाह आते रहो आते रहो भाई आ जाओ भाई आ जाओ अल्लाह आपको जजाए कह दे अल्लाह आपके खड़े होने को बेइंतहा कबूल फरमाए भाई बोलते रहो यहाँ सबसे पहली बात जो जिम्मेदार है जिले के और जो जिम्मेदार है मस्जिदों के इनकी सारी कागजात सामने आई है चिल्ले वाली अठारह जमातें थी चार महीने के आठ जमातें थी पलवा ने भी इरादे किए हैं उनकी अपनी तरतीब है ये सारे जिम्मेदार उस वक्त तक घरों को नहीं जाएंगे जब तक अपने सामने इन जमातों को रुखसत न करें वो किसी गांव में है तो ये जिम्मेदार वहां जाए और जमात को अपने सामने प्यार के साथ दुआएं देते हुए और उनसे दुआएं लेते हुए रुख्सत करें एक दरखास्त है बाकी जितना मजमा है जो वापस जा रहा है फिर दरखास्त करता हूं ये नियत करके जाओ कि पहली फुर्सत में अल्लाह के रास्ते में जाने की तैयारी के लिए जा रहा हूं शाम तक तैयारी हो जाएगी तो शाम को कल हो जाएगी तो कल को भाई नीयत करते हो इंशाल्लाह सारे मजमे से पूछ रहा हूँ नीयत करते हो इंशाल्लाह